लूबा बर्गन बेल्सन यातना शिविर की परी लेखन मिशेल मैकैन चित्रांकन Anne Marshall Hindi voice over Partho Mukherjee कहानी के मुख्य पात्र के शब्द मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ मुझे क्यों बख्शा गया 1944 में दिसंबर की एक ठंडी रात लूबा ट्रेजिंस्का के सवालों का जवाब तब मिला जब उसे बर्गन बेल्सन में यातना शिविर के पीछे चौवन बच्चे मिले लूबा इन बच्चों को बचाने के परिणाम को अच्छी तरह जानती थी अगर नाचियों ने उसे पकड़ लिया तो वे निश्चित तौर पर उसे मार डालते लेकिन वे ज़रूर किसी के बच्चे थे और वे भूखे थे भयानक खतरों के बावजूद लूबा और उसके बैरक की महिलाओं ने इन अनाथों की देखभाल की जिन्हें इतिहास में डायमंड चिल्ड्रन के रूप में जाना गया और उन्हें सर्दियों में बीमारी भुखमरी और युद्ध से बचाया लेखक का नोट लूबा बर्गन बेल्सन यातना शिविर की परी की कहानी ये कहानी ट्रिजिंस का फ्रेडरिक के जीवन के दौरान हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है पाठ में प्रयुक्त नामित व्यक्ति तिथियां स्थान और कविताएं वास्तविक हैं कहानी को बेहतर ढंग से बताने के लिए संवाद और कुछ पात्र जोड़े गए हैं हॉलोकॉस्ट यानी कि प्रलय के दौरान बर्गन बेल्सन सहित यातना शिविरों में कैदियों ने अनाथ बच्चों के कई अलग अलग समूहों की देखभाल की थी इस कहानी में बच्चे डच थे उनके पिता एम्स्टर्डम के हीरे तराशने वाले थे जिन्हें नाथसी युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए बर्गन बेल्सन में स्थानांतरित कर दिया गया था इन बेटों और बेटियों को डायमंड चिल्ड्रन के रूप में जाना जाने लगा कहानी की प्रस्तावना 1930 के दशक में National Socialist German Workers Party नामक एक राजनीतिक समूह जर्मनी में सत्ता में आया जल्द ही नाथसी पार्टी के रूप में जाने जाने के लिए उन्होंने यातना शिविर नामक विशाल जेलों का निर्माण किया जहां पहले तो उन्होंने आम अपराधियों और उनकी राजनीति से असहमत लोगों को बंद किया इसके बाद नाथसियों ने घोषणा की कि जो कोई भी उनके आदर्श से अलग था जो नाथसी नहीं था या जिसे वे आर्यन यानी कि गोरे बालों वाले उत्तरी यूरोपीय मूल के नीली आंखों वाले कोकेशियन कहते थे वो सभी जर्मनी के दुश्मन थे उन्होंने जिप्सियों शारीरिक और मानसिक विकलांग लोगों यहोवा समलैंगिकों और यहूदी लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें भी यातना शिविरों में डाल दिया उन्नीस में नाथसी सैनिकों ने अन्य यूरोपीय देशों पर आक्रमण करना शुरू किया Austria Czechoslovakia Poland Denmark Norway Belgium Holland Luxembourg France Yugoslavia Greece और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जैसे जैसे नाथसी सैनिक फैलते गए उनके यातना शिविर पूरे यूरोप के यहूदियों और अन्य गैर आर्यों से भर गए सालों तक बाकी दुनिया ने नाथसियों की बात पर विश्वास किया कैदी कार्य शिविरों में थे जो जर्मनों को युद्ध जीतने के लिए आवश्यक चीज़ों का निर्माण कर रहे थे लेकिन वहाँ कुछ बेहद बुरा चल रहा था नाथसी चुपके चुपके अपने कैदियों को मार रहे थे हमारी कहानी इन्हीं यातना शिविरों में से एक पर आधारित है दो जर्मन गांवों के बीच स्थित इसे बर्गन बेल्सन कहा जाता था ये एक यहूदी नायिका लूबा ट्रेजिंस्का की सच्ची कहानी है the Angel of Bergen Belsen और अब मुख्य कहानी लूबा अपनी चारपाई में आंखें बंद करके लेटी थी बाहर रात ठंडी और चांदनी थी फिर भी अंदर तेज हवा वाले जेल बैरक ज़्यादा गर्म नहीं थे इस अजीब नए शिविर में लुबा की वो पहली रात थी उसका कोई घर नहीं था कोई परिवार नहीं था और सवालों ने उसकी नींद उड़ा दी थी मैं अभी भी क्यों जीवित हूँ मुझे क्यों बख्शा गया आधे सपने में उसने अपने बेटे इजहाक को उसे बुलाते हुए सुना माँ माँ लेकिन वो जानती थी कि वो इजहाक नहीं था लुबा उठ बैठी क्या तुमने वो सुना उसने हरमिना से फुसफुसाकर कर कहा वो हरमिना के साथ बंक बेड साझा करती थी कुछ बच्चे रो रहे हैं ये तुम्हारी केवल पहली रात है और तुम अभी से ही चीज़ें सुन रही हो हरबिना ने आंखें मूंद लीं तुम सिर्फ सपने देख रही हो सो जाओ नाथसियों को पागल लोग पसंद नहीं है तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो लूबा ने सोने की कोशिश की लेकिन आवाज़ें लौट आईं माँ माँ कौन रो रहा था वो बहुत आश्चर्यचकित हुई लुबा ने अपने कंधों के चारों ओर एक पतला कंबल लपेटा और जमी हुई रात में बाहर घूमने चली गई बाहर वो बड़ी मुश्किल से ही बर्फ से ढकी जमीन देख सकती थी लेकिन रोना उसे साफ सुनाई दे रहा था रोने की आवाज़ उसे बैरक के पीछे एक खाली मैदान में ले गई यहीं उसने उन्हें पाया चौवन बच्चे खोई हुई बतखों की तरह एक साथ दुबके पड़े थे कुछ तो बस शिशु थे जिन्हें तकिए में लपेट दिया गया था तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं लुबा ने सबसे बड़े बच्चे से पूछा जिसका नाम जैक था जी वे चले गए वो हकलाया वे उन्हें ले गए तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे एक ट्रक में मैंने ड्राइवरों को बात करते सुना वे हमें जंगल में ले जाने वाले थे और जैक रुक गया और फिर अपने पैरों को देखने लगा और क्या लुबा ने उससे आगे बोलने को कहा और वे लोग हमें गोली मारने वाले थे वो फुसफुसाया लूबा उस लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के के बालों को तब तक सहलाया जब तक वो आगे नहीं बढ़ गया फिर वहाँ लोगों में बहस हुई ड्राइवर ने वैसा करने से मना कर दिया इसलिए उन्होंने हमें यहीं छोड़ दिया उन्होंने कहा कि ठंड हमें वैसे भी मार देगी जैक ने लूबा से कहा हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है बाकी बच्चे लूबा को घूरते रहे और लूबा ने फिर से अपने मन में वही सवाल सुना मुझे क्यों बख्शा गया इस बार उसे लगा कि उसे उसका उत्तर पता था लुबा ने बच्चों के समूह को एक साथ इकट्ठा किया और बर्फ में अपने पैरों के निशानों के पीछे पीछे उन बच्चों को वापस बैरकों में ले गई तुम सच में पागल हो हरमिना रो पड़ी अब तक सब लोग जाग चुके थे हम उन्हें कहाँ रखेंगे हम उन्हें कैसे खिलाएंगे लूबा ने उनके प्रश्नों का उत्तर स्वयं दिया क्या होता अगर वे तुम्हारे अपने बच्चे होते एक अन्य महिला ने सहमति व्यक्त की क्या आप उनकी मदद करना नहीं चाहेंगे बेशक दूसरों ने उत्तर दिया लेकिन अगर पहरेदारों को पता चला कि हमने उन्हें रखा है तो वे हमें मार डालेंगे महिलाएं काफ़ी देर तक बच्चों को देखती रहीं अंत में एक बड़े कैदी ने चुप्पी तोड़ी आओ बच्चों एक बिस्तर ढूंढो शायद कुछ लोगों को याद था कि वो हनुक्का पर्व का वक्त था और उन्होंने अपने खोए हुए परिवारों के बारे में भी सोचा क्योंकि उन्होंने भी बच्चों को धीरे से बुलाया हाँ स्वागत है स्वागत है पहले से ही भीड़ भाड़ वाला कमरा तीन चारपाई वाले बंक बेड लेटे हुए बच्चों से जल्दी ही भर गए जब बाकी महिलाएं अपने नए मेहमानों को समेटने में व्यस्त थीं लूबा ने एक लोरी गाई एक एक करके बच्चों ने अपनी आंखें बंद की और फिर हर बच्चा सो गया सबसे बड़ी लड़की हेट्टी को छोड़कर बाकी सभी बच्चे सो गए आपका कोई बच्चा है हेट्टी ने लूबा से पूछा मेरा एक छोटा बेटा है उसने जवाब दिया उसका नाम इजाक है वो कहाँ है लूबा हिचकिचाई वह मुझे पता नहीं उसे क्या हुआ इतनी छोटी लड़की के लिए ये बहुत सारे सवाल हैं लूबा ने आह भरी लेकिन वो उससे बातें करती रही युद्ध से पहले मैं पोलैंड में रूसी सीमा के पास अपने माता पिता और अपने भाइयों और बहनों के साथ एक फार्म पर रहती थी लूबा अपने दिमाग में उन खेतों को देख सकती थी गोभी और चुकंदर और गाजर रसोई के बाहर उनका छोटा सा सब्जी का बगीचा था फिर उसने अपनी आंखें मूद लीं जब मैंने शादी की तब मेरे पति हर्षेल और मैं पास के एक शहर में चले गए वहाँ पर इसहाक का जन्म हुआ हमारे पास बहुत सी चीज़ें नहीं थीं लेकिन हम सभी एक साथ बहुत खुश थे फिर एक दिन नाथसी सैनिक आए वे हमें आउशविट्स के यातना शिविर में ले गए लूबा हेट्टी को ट्रेन की सवारी के बारे में बताना नहीं चाहती थी कैसे हर कोई फुसफुसा रहा था कि वे एक मौत के शिविर में जा रहे थे वो हेट्टी को यह भी नहीं बताना चाहती थी कि जिस क्षण ट्रेन आउशविट्स पहुंची हर्शेल को पुरुषों के शिविर में ले जाया गया और गार्ड ने इसहाक को उसकी बाहों से छीन लिया वो हेट्टी को यह भी नहीं बताना चाहती थी कि वो अभी भी उसे माँ मामा कहते हुए सुन सकती थी भले ही इस हादसे को दो साल बीत चुके थे इसके बजाय उसने हट्टी को बताया मैं भाग्यशाली हूँ नाथियों का मानना है कि मैं एक नर्स हूँ और उन्होंने मुझे उनके घायल सैनिकों के देखभाल में मदद करने के लिए यहाँ भेजा है लेकिन आखिरकार लड़की की भी आंखें बंद हो गईं और अब देखो मुझे किसी और के बच्चे मिल गए हैं अगली सुबह चौवन पेट गड़गड़ा रहे थे लेकिन लूबा वहाँ से गायब थी वो कहाँ है बच्चे आपस में फुसफुसाए अचानक दरवाज़ा खुला जल्दी से इसे लो लूबा ने हरमीना को एक भाप निकलता हुआ बर्तन देने के लिए बुलाया कुछ सेकंड बाद वो दूसरे बर्तन के साथ लौटी जैसे ही भूखे बच्चे इकट्ठे हुए लूबा ने अपनी स्कर्ट से बर्तन के गर्म ढक्कन को खींचकर हटाया दलिया उन्होंने आश्चर्य से कहा महीनों तक बच्चों ने ठंडे पानी जैसे सूप के अलावा और कुछ नहीं खाया था वो सूप फफूदीदार गाजर और पार्सनिप के टुकड़ों से बना था महिलाओं ने सिर हिलाया और देखा कि बच्चे आखिरी चम्मच तक चाट चुके थे लुबा ने वो कैसे किया वहां तो एक व्यक्ति के लिए भी अतिरिक्त भोजन मिलना संभव था उसने पचास से ज़्यादा भूखे बच्चों के लिए भोजन कैसे जुगाड़ किया निश्चय ही वो एक चमत्कार था वो एक चमत्कार था जिसे लूबा ने उस सर्दी में महीनों तक किया बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए लूबा को दिन में दो बार कैंप से होकर किचन क्षेत्र तक पैदल जाना पड़ता था और हर बार लूबा को उस फाटक से गुजरना पड़ता था जिस पर नाथसी सैनिकों का पहरा होता था यातना शिविरों में बंद सभी कैदियों में से यहूदियों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया जाता था अधिकांश को बिना अनुमति के कहीं भी जाने की मनाही थी लेकिन लुबा जैसी नर्सों को कैंप में घूमने फिरने की थोड़ी आज़ादी थी सौभाग्य से लुबा की वर्दी की आस्तीनों ने नाथियों द्वारा टैटू किए गए नंबरों को छिपा दिया था उस टैटू से उसकी पहचान एक यहूदी के रूप में होती और चूंकि गार्डो ने यह मान लिया था कि वो सुंदर नर्स जो धारा प्रभा जर्मन और रूसी बोलती थी ज़रूर एक राजनैतिक कैदी होगी इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा शक नहीं किया फिर भी उस सैर के दौरान लूबा घबरा गई उसने प्रार्थना की कि वे उसके हाथों की जांच न करें और उसे खाली हाथ बैरक में वापस न भेजें गुड मॉर्निंग लूबा ने गार्डों का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए उनके पास से जाने का इंतज़ार करने लगी जाओ गार्डों ने उत्तर दिया और उन्होंने लूबा को गेट में से जाने दिया कभी कभी वे उसे देखकर वापस मुस्कुराते भी थे धन्यवाद लूबा ने कहा उसने अपने कांपते हाथों को छिपाने के लिए उनसे बाय बाय कहा एक बार किचन के अंदर पहुंचने पर लूबा सबसे पहले बेकरी का दौरा करती थी कैदियों को केवल बची बासी आधी अधूरी रोटियां ही दी जाती थी लेकिन रोटी बनाने में मदद करने वालों में एक महिला यहूदी कैदी भी थी क्या आज तुम्हारे पास मेरे बच्चों के लिए रोटी नहीं है लूबा ने महिला से पूछा बर्गन बेल्सन के कई कैदी लूबा के बच्चों के बारे में जानते थे लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता था कि वे नाथसी गार्डों को उनका रहस्य नहीं बताएंगे लेकिन बच्चों का खाना छिपाकर ले जाना ज़्यादा खतरनाक मामला था महिला ने सिर हिलाया और बड़बड़ाया तुम इन बच्चों की परवाह क्यों करती हो वे बच्चे तुम्हारे तो नहीं हैं लेकिन वे किसी के बच्चे तो हैं लूबा ने उसे याद दिलाया और वे बहुत भूखे हैं फिर उस महिला ने लूबा को दो गर्म डबल रोटियां दी जिसे लूबा ने अपने कोट में छिपाया और फिर वो मुस्कुराई फिर लूबा एक अन्य इमारत में एक रूसी राजनीतिक कैदी जो वहाँ कसाई था से मिलने जाती थी वो गार्डों के लिए मांस तैयार करता था उसके यहूदी न होने के कारण मदद मांगने से लूबा कुछ घबराई हुई थी लेकिन लूबा के बच्चों ने महीनों से मांस नहीं खाया था असंभव उस बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया मैं तुम्हें सॉसेज नहीं दे सकता अगर मैं पकड़ा गया तो गार्ड मुझे मार डालेंगे और तुम्हें भी लेकिन कॉमरेड लूबा ने रूसी में निवेदन किया मैं आपको वचन देती हूँ अगर वे मुझे पकड़ते हैं तो मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने वो मांस चुराया कसाई ने एक पल के लिए सोचा फिर उसने सिर हिलाया नहीं ये बहुत बड़ा जोखिम है ठीक है मुझे लगा कि तुम एक दादा हो गए और तुम्हारे भी नाती पोती होंगे लूबा ने आह भरी और वो जाने के लिए मुड़ी लेकिन मुझसे गलती हुई अगर तुम दादा होते तो कभी किसी और के पोते पोतियों को भूखा नहीं बनने देते उसके बाद कसाई गुस्से से कांपते हुए लूबा के पास से होता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया लेकिन जब लूबा वहाँ से चली तो उसने देखा कि सलामी यानी कि मांस की एक बड़ी छड़ी एक डिब्बे के पीछे बनी हुई थी वो कसाई भी आखिर एक दादा था लूबा ने सॉसेज को अपने उभरे हुए कोट के अंदर छिपाया अंत में लूबा रसोइये के पास जाती थी जो बर्गन बेल्सन में भोजन का प्रभारी था लूबा के लिए उसका सामना करना सबसे कठिन था वो एक जर्मन था जिसे किसी पुराने अपराध के लिए वहाँ बंद किया गया था और उसे यहूदी कैदी उतने ही नापसंद थे जितना गार्डों को अगर वो अपने नाथसी सुपरवाइज़र को लूबा के बारे में सूचना देता तो लूबा को मार दिया जाता क्या आपके पास मेरे बैरक में कुछ छोटों के लिए थोड़ा सा आलू का सूप नहीं होगा लूबा ने उससे विनती की देखो यहाँ किसी के लिए अतिरिक्त सूप नहीं है रसोइये ने जोर से हंसते हुए कहा मैं तुम्हारे गंदे यहूदी बच्चों के लिए कुछ सूप क्यों दूँ लूबा बहुत गुस्से में थी और वो जाने के लिए मुड़ी लेकिन रसोइये ने उसे बुलाया तुम बहुत बहादुर हो तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आती है लुबा ने कहा निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी मुझे सूप देती क्यों रसोईया फिर हंसा और उसने लूबा के गाल को प्यार से नोचा जब तुम गुस्से में होती हो तब तुम और भी बहादुर लगती हो ओह उन्हें सूप दे दो मुझे उनकी क्या परवाह और ये कहकर उसने आखिरी सूप लूबा के बर्तन में डाल दिया लूबा अपने चेहरे से उसका हाथ झड़क कर दूर करना चाहती थी लेकिन उसकी बजाय वो मुस्कुराई और उसने बर्तन को अपने जादुई कोट के अंदर छिपा लिया शिविर के चारों ओर की खाली इमारतों में से लूबा पुरानी लकड़ी का स्क्रैप एकत्रित करती थी जब बहुत ठंड होती तो वो बच्चों को गर्म करने के लिए चूल्हे में आग जलाती थी लेकिन वो अंधेरा होने के बाद ही ऐसा करती थी जब कोई धुआं नहीं देख पाता था कभी कभी लूबा गार्ड की पत्नियों को मना लेती और उनसे अतिरिक्त कपड़े और कंबल ले लेती थी लूबा ने उन्हें इसका कारण कभी नहीं बताया और अगर उन्हें लूबा के बच्चों के बारे में पता भी था तो भी उन्होंने किसी से एक शब्द नहीं कहा जब कभी बच्चे बीमार पड़ते तब लूबा मदद के लिए एक यहूदी डॉक्टर के पास जाती थी एस्प्रिन और पट्टियों के अलावा उसके पास बहुत कुछ नहीं होता था लेकिन वो पर्याप्त था बच्चों को जो चाहिए था लूबा उन्हें कहीं ना कहीं से ले आती थी हर दिन वो बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती थी उसे बस यही उम्मीद थी कि उसके बच्चे इजाक के लिए भी कहीं कोई ऐसा ही कर रहा होगा बैरक की अन्य महिलाओं ने भी बच्चों की देखभाल में अपनी भूमिका निभाई उन्होंने लुबा के लाए खाने को पकाया और सबसे छोटे बच्चों को तैयार किया उन्होंने चौवन बच्चों को जितना हो सका साफ रखने के लिए एक गीले कपड़े का इस्तेमाल किया बच्चों ने भी इसमें मदद की बच्चों ने छोटे मोटे काम किए एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई नाटकों का अभिनय किया और अनजान देशों की यात्रा की लेकिन वे कभी रोए नहीं उनमें से कोई भी उस ठंडे अंधेरे इलाके में उन्हें छोड़े जाने की घटना को कभी नहीं भूला हर दिन के अंत में बच्चे दरवाजे के चारों ओर इकट्ठा होकर लूबा का इंतज़ार करते थे प्रार्थना करते थे कि वो कहीं पकड़ी ना जाए और हर बार जब लूबा दरवाजे से अंदर घुसती अपनी खोज से थक कर तो बच्चे फुसफुसाते सिस्टर लूबा तुम वापस आ गई तुम वापस आ गई फिर जब वे लूबा के थके हुए पैरों को रगड़ते तो लूबा की ताकत फिर से वापस आ जाती थी और उसे फिर से याद आता कि उसकी जान क्यों बख्शी गई थी जैसे जैसे दिन गर्म होते गए और बसंत नज़दीक आता गया बच्चों ने लूबा के लिए जन्मदिन पर एक आश्चर्यजनक योजना बनाना शुरू कर दी बर्गन बेल्सन में कुछ कैदी ऐसे थे जो विशेष वस्तुओं का व्यापार कर सकते थे डबल रोटी के लिए आभूषण दवाओं के लिए सिगरेट सौभाग्य से एक ऐसा डच कैदी था जिसके पास वो था जो बच्चे चाहते थे लेकिन वो चीज़ सस्ती नहीं थी उसकी कीमत दो पूरी डबल रोटियां थीं हमें डबल रोटियां कहाँ से मिलेंगी जैक ने आह भरी मेरे दिमाग में एक आइडिया है हिट्टी फुसफुसाई लेकिन उसमें सभी को अपना योगदान देना होगा हिट्टी जानती थी कि एक डबल रोटी में सत्रह स्लाइस होते थे और हर दिन लूबा बैरक में प्रत्येक बच्चे को रोटी का एक स्लाइस देती थी यदि हेट्टी और जैक बच्चों को अपनी दैनिक डबल रोटी का आधा टुकड़ा देने के लिए मनाने में सफल होते तो वे केवल दो रातों में लूबा का उपहार खरीद सकते थे बाकी बच्चों को वो एक शानदार योजना लगी और जल्द ही उनके पास डबल रोटी के स्लाइस का ढेर लग गया हालांकि उनका पेट खाली था लेकिन बच्चे इतने उत्साहित थे कि उन्हें उसका ध्यान ही नहीं रहा आश्चर्य बच्चे चिल्लाए जब लूबा ने दरवाज़ा खोला ये सब क्या है लूबा ने पूछा लूबा अपने सामने साफ सुथरे और गुलाबी चेहरों को देखकर चकित रह गई आज आपका जन्मदिन है जैक ने कहा लूबा को अपना जन्मदिन याद भी नहीं था उसने बिना किसी सफलता के भोजन की तलाश में घंटों बिताए थे और उससे डर था कि वो रात सभी के लिए एक भूखी रात होगी सभी बच्चे लुबा के सामने लाइन में खड़े थे प्रत्येक ने लुबा को एक छोटा सा उपहार दिया छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने कागज़ और कपड़े के टुकड़ों धागों और लकड़ी के टुकड़ों से खुद बनाई थी कतार में आखिरी लड़की ने लूबा को दिल के आकार का एक बक्सा दिया जो हेट्टी के फ्रॉक के नीचे के कटे कपड़े में लिपटा हुआ था लूबा ने ढक्कन उठाया अंदर लूबा को एक लाल रेशमी दुपट्टा मिला ये तो बेहद सुंदर है लूबा ने कहा लेकिन वो अंतिम उपहार नहीं था जैसे ही हेट्टी ने कागज़ का एक टुकड़ा खोला कमरा एकदम शांत हो गया ये वो जन्मदिन की कविता है जो हमने आपके लिए लिखी है बहन लुबा आपका नाम किसी दस्ताने की तरह फिट बैठता है आपके लिए हमारे दिलों में सम्मान और ढेरों प्यार है सुबह से देर रात तक एक बार भी आप हमें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती हैं दिन शुरू भी नहीं होता है और सिस्टर लूबा पहले से ही फरार हो जाती है हमारी जान उनके हाथों में है ये हम भली भांति जानते हैं और हम सभी उनके आभारी हैं बड़े और छोटे हम आपके स्वास्थ्य और खुशी की कामना करते हैं काश हम सभी के लिए आज़ादी जल्दी आए लुबा के सिर में अब कोई आवाज़ नहीं थी कोई सवाल भी नहीं था जब से वे इजहाक को ले गए थे पहली बार लुबा जीवित बचकर खुश थी हालांकि लुबा की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी अफवाहें उड़ रही थीं नाथसी युद्ध हार रहे थे ये खबर कैदियों के लिए खुशी की बात थी लेकिन पहरेदारों के लिए नहीं जो अब उनके साथ पहले से भी बदतर व्यवहार करने लगे थे कैदियों को बहुत कम खाना मिलता था उनके पास कोई दवा नहीं थी हर दिन बच्चे अधिक से अधिक भूखे रहने लगे फिर एक समय आया जब वे अपनी भूख को महसूस तक नहीं कर सके और जल्दी उनमें से कई बच्चे बीमार पड़ गए एक शाम लुबा ने बैरक के चारों ओर देखा बच्चे कितने दुबले पतले हो गए थे कई बच्चे टाइफाइड से पीड़ित थे वो एक ऐसी बीमारी थी जिसने पहले ही हज़ारों कैदियों को मार डाला था टाइफाइड के तेज़ बुखार ने उन्हें इतना थका दिया कि वे उठ भी नहीं सकते थे यहाँ तक कि जो बच्चे बीमार नहीं थे वे भी चारपाई पर लेटे थे क्योंकि वे खेलने के लिए बहुत कमज़ोर थे इस दर पर वे शायद एक और सप्ताह जिंदा बचते अब मैं क्या करूं? लूबा ने चिंतित होकर कहा दीदी लूबा प्लीज़ रो मत जैक ने कहा चिंता मत करो उसने लूबा के कंधों के चारों ओर अपनी पतली बाह लपेटते हुए कहा हम लोग ज़रूर ज़िंदा रहेंगे मुझे पता है कि हम इस मुसीबत से ज़रूर उबरेंगे जैक मुझे पता है कि हम जिंदा रहेंगे लेकिन लुबा को इतना यकीन नहीं था अगली सुबह लुबा एक अजीब सी आवाज़ के साथ उठी गड़गड़ाहट क्या एक और हवाई हमला लुबा ने धक्का देकर बैरक का दरवाज़ा खोला शिविर पूरी तरह सुनसान था पहरेदार चले गए थे और शिविर के प्रवेश द्वार में से बड़े बड़े टैंक अंदर घुस रहे थे क्या मैं कोई सपना देख रही हूं लुबा ने सोचा तभी हर एक टैंक के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों ने ऐलान किया अब तुम आज़ाद हो अब सभी लोग आज़ाद हैं ब्रिटिश सेना आ चुकी थी युद्ध समाप्त हो चुका था बच्चों उठो लुबा रोई ब्रिटिश सैनिकों ने लुबा के दरवाजे में झांक कर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ अंधेरे बैरक के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ महिला कैदी बच्चों के झुंड से घिरी हुई थीं बंक बेड में बच्चे थे मेज़ों के नीचे बच्चे थे जो अपनी यूनिफॉर्म को खींच रहे थे उसके बाद बच्चों ने सैनिकों को अपनी काली धसी हुई आंखों और मुस्कान से देखा जो कि पूरे शिविर को रोशन कर सकती थी सैनिक चकरा गए ये सभी बच्चे युद्ध से कैसे बच निकले तो निश्चय ही एक चमत्कार था अब लुबा को अपने जादुई कोट की कोई ज़रूरत नहीं थी जैसे ही लुबा ने कोट को उतारा सूरज ने उन बाहों को गर्म किया जिन्हें अब उन्हें छिपाने की ज़रूरत नहीं थी लुबा और अन्य महिलाओं ने सबसे कमज़ोर बच्चों को उठाया जबकि मजबूत बच्चों ने उनकी स्कर्ट पकड़ी अब हम स्वतंत्र हैं लुबा ने कहा कि वे कांटोदार तारों के पार और बिना पहरेदार वाले गेट के माध्यम से बाहर निकले अब हम स्वतंत्र हैं कहानी का उपसंहार बर्गन बेल्सन में आखिरी महीनों के दौरान साठ हजार से अधिक कैदियों की भूख और बीमारी से मृत्यु हो गई थी फिर भी मूल चौवन डच बच्चों में से जिन्हें लूबा ने 1944 में दिसंबर की उस ठंडी रात में बचाया था बावन बच्चे अप्रैल 1945 में युद्ध के अंत तक जीवित रहे मुक्ति के बाद बच्चों ने लूबा से अलग होने से इनकार कर दिया इसलिए वो उन्हें हॉलैंड ले गईं जब तक वे वहां पहुंचे तब तक लूबा एक राष्ट्रीय हीरोइन बन चुकी थीं डच लोगों ने उन्हें बर्गन बेल्सन का दूत कहा बच्चों को उनके जीवित परिवारों के साथ फिर से मिला दिया गया और रानी विलहेलमिना ने खुद लूबा को हॉलैंड में रहने के लिए आमंत्रित किया ये वादा करते हुए कि जीवन भर उनकी देखभाल की जाएगी लेकिन लूबा वहाँ रुकी नहीं एक बार जब डच बच्चे सुरक्षित हो गए तो लूबा बर्गन बेल्सन लौट आई वो वहाँ पर अन्य अनाथ बच्चों की देखभाल में मदद करना चाहती थीं जिन्हें युद्ध के अंत में वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था और वो अपने खुद के रिश्तेदारों को भी ढूंढना चाहती थीं पूरे यूरोप में युद्ध से बचे लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे वे अपने घर अपनी नौकरी और अपनी सारी संपत्ति खो चुके थे जबकि लूबा निश्चित थी कि हर्षल और इजाक मर चुके थे उन्हें आशा थी कि इन शरणार्थी शिविरों में से किसी एक में उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्य मिल सकते थे जब बर्गन बेल्सन के शेष अनाथ बच्चों को अन्य देशों में स्थानांतरित किया गया तो लूबा एक समूह को स्वीडन में एक शरणार्थी शिविर में ले गई लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी लूबा अपने किसी अन्य जीवित रिश्तेदार को नहीं खोज पाई इसलिए उन्नीस में वो अमेरिका चली गई वहां उन्होंने एक और हॉलोकॉस्ट के अनुभव झेले आदमी सोल फ्रेडरिक से शादी की और उनके दो बच्चे हुए ऑल और पार्टी फिर भी लूबा अब भी रोज़ाना उन डच बच्चों के बारे में ही सोचती थी वे कैसे कर रहे थे क्या उन बच्चों ने कभी लूबा को याद किया सालों तक लूबा ने उन बच्चों से कुछ नहीं सुना लेकिन वे बच्चे लूबा को नहीं भूले थे जैसे ही वे थोड़े बड़े हुए उन बच्चों ने लूबा को दुनिया भर में खोजना शुरू किया जैक ने सबसे पहले लूबा को ढूंढा और बाद के सालों में कुछ अन्य बच्चों ने भी लूबा को ढूंढ निकाला जैसे ही दूसरे युद्ध की समाप्ति की पचासवीं वर्षगांठ निकट आई उन्होंने लूबा को एक और आश्चर्य देने की व्यवस्था की अप्रैल 1995 में वे एक पुनर्मिलन के लिए लूबा को एम्स्टर्डम लेकर गए तब लूबा लगभग 75 वर्ष की थी और उनके बच्चे 50-60 साल के थे लेकिन जैसे ही लूबा विमान से बाहर उतरी उनके बीच के साल पिघल गए वो उनकी लूबा थी और वे उनके बच्चे थे एक बार फिर बच्चों ने लुबा के लिए एक बहुत ही ख़ास उपहार की योजना बनाई वे लुबा को सिटी हॉल में ले गए टेलीविज़न कैमरों पत्रकारों एम्स्टर्डम के मेयर और बच्चों से हॉल भरा हुआ था हॉलैंड की महारानी बीट्रिक्स ने लुबा को बर्गन बेल्सन में उनके वीर कार्यों और मानवीय सेवाओं के लिए सिल्वर मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया लुबा को वो लगभग पिछले सम्मान लाल दुपट्टे जितना ही पसंद आया वहाँ पर एक और आश्चर्य हुआ टेलीविजन कवरेज के कारण अमेरिका में एक परिवार ने भी लूबा के बारे में सुना उस परिवार को लूबा का नाम जाना पहचाना लगा इसलिए उन्होंने लूबा को फ़ोन किया लूबा के साथ फ़ोन पर घंटों बात करने के बाद उन्हें पता चला कि वे लोग लूबा के दादा के रिश्तेदार थे युद्ध के कई लंबे वर्षों के बाद लूबा अपने परिवार के खोए कुछ लोगों से दोबारा मिल पाई द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी उन्नीस से 1945 तक पूरे यूरोप और प्रशांत महासागर में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया लेकिन यहूदी लोगों का उत्पीड़न वर्षों पहले शुरू हुआ 1933 में एडोल्फ हिटलर और उनके अनुयायियों ने जर्मनी में सत्ता संभाली और यहूदी लोगों को देश की समस्याओं के लिए बलि का बकरा बनाया हिटलर ने जर्मन लोगों से कहा कि वे तभी सफल हो सकते हैं जब यहूदियों को नष्ट कर दिया जाए बहुतों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने जल्दी ही अपने यहूदी पड़ोसियों के लिए जीवन जीना लगभग असंभव बना दिया उन्होंने यहूदी घरों और व्यवसायों को नष्ट कर दिया यहूदी संपत्ति को चुरा लिया और अंततः यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया जब जर्मन सेना ने अन्य यूरोपीय देशों पर आक्रमण किया तो उन देशों के यहूदी नागरिकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया युद्ध के अंत तक नाथियों ने साठ लाख यहूदी पुरुषों महिलाओं और बच्चों को हॉलोकॉस्ट में मार डाला था अकेले बर्गन बेल्सन के अंदर 35,000 से अधिक यहूदी कैदियों की मृत्यु हो गई जिसमें प्रसिद्ध किशोर लेखिका एनी फ्रैंक भी शामिल थी वो शिविर की मुक्ति से कुछ हफ्ते पहले टाइफाइड से मर गई थी वास्तव में बर्गन बेल्सन में हालात इतना भयानक थे कि मुक्त होने के बाद भी तेरह हजार कैदियों की बीमारी से मृत्यु हो गई अंत में पूरे शिविर को जला देना पड़ा क्योंकि वो टाइफाइड से ग्रस्त था लुबा की तरह हॉलोकॉस्ट के कई यहूदी बचे हुए लोग दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए वे दक्षिण अमेरिका कनाडा और हाल ही में स्थापित यहूदी राज्य इसराइल में चले गए अपने नए घरों में इन बचे लोगों ने खाक से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया उनका साहस अब भी मानवता के लिए एक प्रकाश है ये दर्शाता है कि ताकत गरिमा और आशा सबसे अंधेरी जगहों में भी जड़ें जमा सकती हैं